और वही है जिसने समंदर को काम पर लगाया ताकि तुम उससे ताज़ा गोश्त खाओ और उससे वो जेवरात निकालो जो तुम पहनते हो और तुम देखते हो कि उसमें कश्तियां पानी को चीरती हुई चलती हैं ताकि तुम अल्लाह का फजल तलाश करो और ताकि शुक्रगुजार बनो